जो परीक्षा ली अब तक दूसरों की तो उन्होंने आपकी ली नहीं परीक्षा में आप बैठे थे क्लास में परीक्षा में कौन बैठा था हम और आपका पुत्र सिखा देते अच्छा अच्छा ठीक है तो हाँ वो तो भाई आप तो लाओ देखो आप, आपका पूरा जो सभी है विस्तृत आपका कुटुंब परिवार सभी नाटा फैमिली का सातों भाइयों का उनके लिए हम ऐसा लगता है कि आज कौन तारीख क्या हो गई आज बाईस है ना आपने बताया था मैंने तेईस और चौबीस मुझे समय चाहिए पर चौबीस तारीख को आज वापस आ जाते हैं हाँ? तो हम करीब मेरे ख्याल छः सात बजे तक आ जाएंगे हम्म? छः के सात के बीच में यहाँ आ जाएंगे तब रखेंगे जो निमे निमेश आनंद जी ने बताया ना कि सब यहाँ आपका रूम पर बुलाए थे उसकी जगह वहाँ रखेंगे शांति से मिल पाएंगे हम चलेगा तो। सबको और आपको नाटा फैमिली के वाले को नहीं सभी हिंदी भाषी जो आहिस्ते आहिस्ते मिलेंगे नहीं चल सकता है हाँ अब स्पेशल सभी के लिए हो, हो सकता है और अगर सात बजे आवे तो मंदरबा आठ बजे से थोड़ा सत्संग कर ले तो हरकत है आपको नहीं मंदरबा को पूछते हैं हाँ आरती वगैरह होती है ना आठ बजे अच्छा वो आरती है वो ठीक है ठीक है तो आरती तो पहले होनी ही हाँ, चाहिए आरती तो होनी ही चाहिए अच्छा ठीक है हाँ, हाँ। और पीछे दूसरे दिन तो है ना मेरे पास पूरा दिन है पूरा दिन है सत्संग होगा तो चलेगा आरती नहीं तो आरती है आरती तो पहली वो तो पीछे आरती होनी चाहिए अगर पीछे थोड़ा बाद में करेंगे इसके बाद करेंगे नहीं नहीं ऐसा कर दे तो कोई हरकत नहीं आरती का टाइम वही होता है हम्म, सात आठ साढ़े सात कोई बात नहीं करेंगे हो जाएंगे सत्संग नवीन आनंद जी सत्संग हमारे दिल में हमेशा कायम का रहना चाहिए क्यों कि हमने सत पाया है ना सत पाया है ना इसीलिए जो वो पुष्पा बहन ने पूछा आ गई है कि नहीं तो वो जो व्यवहार हमें बताया तो हमारी एक नंबर की फाइल उसके साथ है ना सर पाया है हमने और इसी ढंग से तो जी रहे हैं हम हम्म? इसीलिए वो फाइल भी उनके साथ है तो संग तो होता ही रहता है सत का और अंदर से तो चलता ही रहता है लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा सत्संग सबको मज़ा आता है एक दूसरे से लाभ मिलता है हुँ? हम्म? और जिस ज्ञान प्रकाश दर्शन प्रकाश तो हर एक के अंदर है तो एक दूसरे को एक दूसरे का लाभ बहुत मिलता है खाली और समझ में और पुद्गल क्या चीज़ है वो हमें समझ में आता है क्या बताया हाँ पुद्गल वो शुद्धात्मा निश्चय है वो है है कि नहीं हा? हा? ना बोलते हो तो क्या है वो व्यवहार पुद्गल है इसीलिए तो व्यवहार दृष्टि की आज्ञा रख दी गई के लिए पुद्गल की पहचान हो जाए हाँ? हाँ तो ये पुष्पाबेन थी ने ये भी पुष्पाबेन है देखो ने बैठी है और उत्तम शाह कहाँ गए बैठे हैं आज शांत क्यों है आप अच्छा सुबह का सत्संग सुनने के बाद शांत हो गया तो ये रुचिका कौन है हाँ तू है कहाँ से શું કહે બોલ कहाँ की है गुजराती है कि हिंदी राजस्थानी राजस्थानी बम्बई में कैसी आ गई राजस्थान वाले तो वहाँ रहते हैं राजस्थान में जोर से बोलना जन्म से तो राजस्थान छोड़ दिया <laughs> अच्छा अच्छा तो आपने पूछा है मोक्ष में जाने के बाद जीव वापस धरती पर जन्म लेता है या नहीं और लेता है तो क्यों मोक्ष में जाने के बाद वापस वापसी है ही नहीं वहाँ से वो हमेरा पूरा ख़त्म हो जाता है और पीछे कायम के वहाँ रहते हैं लेकिन कैसे रहा जाए तो कि बिना सुख तो कैसा रह जाएगा इसीलिए जो हमेरा सुख स्वभाव है शुद्धात्मा का वो अनंत सुख से वो रहता है पीछे सभी गुण साथ में है यहाँ थे शरीर के साथ और व्यवहार में तभी भी ये व्यवहार के साथ हमारी शुद्धात्मा की दृष्टि से हमें देखने जानने में हम खुद हमें देखने जानने में आते थे सही ढंग से पूरा शरीर पुद्गल का बना है तो सारी समझ में आ जाता था और मोक्ष किसको बोलते हैं कि जो पुद्गल है मानव शरीर स्वरूप उसमें उससे मुक्ति पाया हुआ अपना शुद्धात्मा पद प्राप्त किया हुआ है और शुद्धात्मा पद तो प्राप्ति की वो तो शुद्धात्म हमेशा का मुक्त है लेकिन जो नाम क्या है तेरा रुचि का जो है उसके साथ बंधे थे शुद्धात्मा तो बंधा ही नहीं कभी नहीं बंधता हम्म? लेकिन हमारी गलत मान्यताएं बंधी गई थी वो गलत मान्य में रुचि आ गई उसको खाली होने के लिए जो आगे गलत मान्यता ऐसे शरीर बना था वो सब खाली हो जाएगा अभी वो आज्ञा धर्म आ गया तो जब पूरा खाली हो गया तो सुख पूरा खुला हो गया हुँ? हम्म? और केवल ज्ञान हो जाता है ना हाँ केवल ज्ञान होता है खलास लेकिन फिर भी शरीर रहता है तो केवल ज्ञान होने के पश्चात भी शरीर जो रहता है उसका बाकी का चार कर्म रहा वो नाम कर्म है कि नहीं वो गोत्र कर्म है कि नहीं हुँ? हम्म? और वो अपना वेदना और आयु वो आखिर तक वो ही खलास हो जाते हैं सभी तो सिद्ध गति हो जा सिद्ध आत्मा हो जाते हैं क्या बताया सिद्ध आत्मा सिद्ध आत्मा स्वरूप हो गया वो भी शुद्ध आत्मा ही है सभी शुद्ध आत्मा है लेकिन वो सिद्ध स्वरूप से हो गए तो यहाँ ये सिद्धि पा गई आपने कि हम परम ज्योति स्वरूप वैसे सिद्ध भगवान है वो बीज बीज था न अभी खुला होता जाता है आज्ञा धर्म से जीना पड़ेगा आपको हाँ तो बहुत दिक्कत वाली बात है बस तो बैठ जा ज्ञान लेना बाकी है तो उसका नाम लिखा है रुचि का रुचि का नाम है तो तुम बैठ जाना पच्चीस हाँ जाना है तो नाम लिखे आपका लिस्ट में है तो ना पड़ेगा जो वो बताइए रखो हाँ बैठ जाना हाँ अभी जो संख्या हो गई है फिर भी बैठ जाना एक दो हाँ, हाँ कोई बात नहीं ये तेरी पुण्य ही है तो ऐसा हो गया ये जोधपुर से सुराना साहब नरेंद्र सिंह कहाँ है वो बैठे हैं खड़े हैं खड़े वो पीछे पीछे आगर चलता है हाँ, हाँ हाँ तो आ जाओ थोड़ा ये आगे बैठ जाओ इसे बात करें आपसे बैठ जाओ मैं ऐसे बैठिए बैठ जाइए बस बस बैठो बस बस बस बस कोई बात नहीं आगे बैठो ना नीचे हम्म। ये गर्म है थोड़ा ज़्यादा कि ठंडा है गुजराती में लिखते हो जोधपुर वाले लिखवाया किसने लिख के दिया है अच्छा कोई बात नहीं मुझे आपका आशीर्वाद लेना है कोई प्रश्न नहीं करना हमें और इसीलिए समय हमें दे ठीक है तो आप कितने दिन यहाँ ठहरे हैं पूरा रविवार तक જ્ઞાન લીધું नहीं નહીં ઈચ્છા છે એને કહેજો વાંધો નહીં કરાવી દેજો ને તમે बिहारी आनंद जी दीपक आनंद जी बात करना करवा देंगे मेरा दर्शन नहीं आपको माहिर भगवान का दर्शन करवा देंगे समझे ऋषभ दादा के सबके दर्शन हो जाएंगे पीछे क्या चाहिए आपको और आपके अंदर ही हो जाएंगे ठीक है ना जाओ तो क्या और क्या है बोलो ताराचंद ताराचंद जी कहाँ गए वो आराम में है माता जी कुर्सी पर बैठो कुर्सी पर ही बैठना बैठो हाँ पवन कुमार पवन नहीं कुमार नहीं आए माता जी ए माता जी कहाँ बैठिए पवन कुमार कहाँ गया अलवर है कोई बात नहीं धंधा चलाता है ना तो कोई बात नहीं लेकिन सबका ख्याल रखता है कि नहीं पवन कुमार रखता है ख्याल सबका ताराचंद जी अच्छा अच्छा ठीक है अलवर में तो हम ही तो है आपका पुत्र आता क्या ये हम नहीं है ये माता जी जो है वो आप नहीं है वो माता जी आ, आप ही है कि वो अलग है वो अलग है या आप है क्या विनती है आपकी विनती बहुत भारी होती है बहुत बड़ी कृपा है चौदह हाँ। एक साल होने जा रहा है हम उसकी साल भर से मनाना चाहते हैं तो आप पहुंचने चाहिए सभी महात्माओं से निवेदन करेंगे चौदह पंद्रह अप्रैल को जो है ये प्रोग्राम जरूर हर साल मनाता है ये आंबेडकर जयंती है गुरुवार गुरुवार क्या कौन चौदह अप्रैल की बैसाखी भी है और श्रीमंद भगवान का जन्म दिवस भी है बहुत सब दिन ठीक है ठीक है ठीक है ये प्रोग्राम होना चाहिए ये काल हमारा ताराचंद आप बात सुनिए देखो सुनिए सुनिए हमारे सभी में से काल किसके हाथ में है है किसी का हाथ में काल फिर भी भाव है तो भाव व्यक्त किया अपना अभी देखे काल कैसा आता है ठीक है भाव है तो आएगा कुछ लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ही आवे ऐसा आवे उसमें थोड़ा आपको बोल देना पीछे देखते रहना बस खत्म हो गई जाओ सच्चिदानंद ओ मैं अभी मैं रविवार तक हूँ शांति रखो हाँ शांति होगी ना मिलेंगे ना हाँ मैंने बताया ना पच्चीस तारीख पच्चीस छब्बीस सत्याईस समझे मैं तो शांति से मिले शांति से गाय में मत हाँ? उतावला नहीं तो खूब बैसी आइए मुनि जी मरा साहब पधारो जय सच्चिदानंद ये परम विनय है ये संयम होने के पश्चात ऐसे समर्थ आचार्य है फिर भी वो आचार्य की परवानगी से से इसलिए तो हो सकता नहीं है हाँ हेलो जय सच्चिदानंद हाँ बोलिए हाँ जी हाँ હમ હમ બસ બરાબર છે ઓકે સારું બસ બસ ઓકે સારું સમજા જય મારા આશીર્વાદ છે મારા સાહેબ આશીર્વાદે આશીર્વાદ ખૂબ આશીર્વાદ હમ લો કે બસ રખીએ उसको बंद कर दो ना ब्लॉक कर दो कितना आनंद है एक तो संयम है हुँ? हम्म, वो संयम और नियम पूछा था ना किसने हाँ, सुबह समझे बिना नियम संयम नहीं होता हुँ? हम्म, और यम जो है यम यम नियम संयम आप कियो और ये सब करने से हमें किया उसके कारण हमें अथाग परिश्रम हुआ और कहीं कहीं से उसके माध्यम से हमें हमेरी आत्मा को पहुंचने की कहीं कोशिशें की कहीं कहीं शरीर थक गया शरीर खलास हो गया सब हल्के हड्डी और चमड़ी रह गई ऐसा हुए फिर भी हाथ में कुछ नहीं माया शरीर बहन पीछे सोचता भी नहीं तू कि साधन से क्या बाकी रहा इतनी साधन की क्रिया की तूने यम नियम संयम आप कियो हमें की खुद ने तो हाथ में कुछ आपको मिला नहीं कुछ खाली हाथ रहा तो इसीलिए सोच तू सोच कैसा पाया जा सकता है जैसा महावीर भगवान ने उनके समय उनके साथ जो साधु व संयम पर्यायी थे सभी लोग गणतर देव के साथ सभी को बोध देते रहे तो एक दृष्टांत देते थे दृष्टांत उदाहरण वो पुंडरी के नाम का सरोवर बड़ा था उसका दृष्टांत उसको बड़े अच्छे ढंग से देते थे सभी साधुओं को संयमदारियों को और सत्संग भी कभी जब देशना होती थी कभी कभी दिया है लेकिन एक खास करके देते थे वो क्या उदाहरण क्या है तो कितना बड़ा सरोवर है कितना पानी है अंदर और जहाँ पानी है वहाँ कादव को क्या बोले किचड़ तो है ही किचड़ पानी से भरा हुआ बड़ा सरोवर और उसके अंदर इतने श्वेत अच्छे अच्छे प्रकार के कमल खिले हैं हम्म? ये उपमा है उपमा है उसको उदाहरण है बड़ी अच्छी उपमा है और सारा वो भरा हुआ है समर पानी के भाग में उसके सभी के बंद से केंद्र में सबसे बड़ा ईसाई श्वेत कमल आप जानते हैं सब शास्त्र में है सब कुछ तो हाँ <laughs> तो ऐसा आता है पूर्व दिशा से ये भारतवासियों की पूर्व दिशा बहुत पवित्र है हाँ उत्तर उत्तर पवित्र तो है महाविद्य क्षेत्र पूर्व उत्तर में है हाँ, वो तो ठीक है ऐसे लेकिन ऐसे समझ ऐसे कल्पना से नहीं समझा जाएगा वो हुँ? हम्म? बाकी सब ये सारा उद्गल सागर का महासागर का केंद्र ये है यहाँ हम्म। समझे ना हम्म। तो सरोवर में दृष्टान देते थे आता है वो मैं तो इतनी शास्त्र का जानकर वगैरह वगैरह तो जाता है वो अभी मैं लेके आता हूँ तो जाते जाते खलास हो जाता है जैसा कीचड़ में पानी में थोड़ा कीचड़ आ गया तो कीचड़ में जाते जाते तो खस ऐसा दक्षिण वाले का हुआ पश्चिम वाले का हुआ पूर्व वाले का हुआ चार दिशाओं का केंद्र में नहीं जा पाए केंद्र में नहीं जा पाए <laughs> समझे हाँ, हाँ तो शास्त्र के शब्द तो बड़े अच्छे हैं तो एक ऐसे ही करके एक वाइज पुरुष आता है जीवन की कहीं कठिनाइयों से निकलने का अनुभव लेके लेके आता है हुँ? हम्म? और विजडम वाला अच्छा है वो आता है देखता है अरे ये सब देख लिया ये यहाँ गए आ गए सब खूब गए हैं अंदर और जाने प्रयत्न तो है कि वहाँ जाना है तो वो उसको सही रीत मालूम नहीं उसको जाने की क्या बताया सही रीत उनको मालूम नहीं इसीलिए अपनी मानी हुई रीत से जाते जाते ये फंस गए हैं हम्म। इसीलिए जो साधु है संयमधारी है उसके लिए ये पाने के लिए मार्ग तो अलग ही है वो तो जैसे वाइस पुरुष है डाय न शू કહીએ शाना नहीं शाना तो अच्छा शब्द नहीं शाना श्याना श्याना बोलते हैं ना पुष्पा सयाना सयाना पुरुष सयाना पुरुष होना बहुत मुश्किल है और ये कलयुग में पंचम काल में हमें जो ज्ञान मिला है और आज्ञा धर्म में हमें है अभी हमारा जीवन तो स्याना तो क्या सयाना पुरुष मिल जाता है तो ऑटोमेटिक वो भी सहायता हो जाता है वो तो उसका सयानापन अपने में उपस्थापित होता है इसीलिए तो हमारे सयानापन आस्ते आस्ते खुलता जाता है सयानापन हाँ? वो किसी का पक्ष लेता नहीं कभी वो पक्ष में पड़े हुए देखे उन्होंने तो वो क्या बोला नहीं ये तो उसका नहीं उसका राज कुछ अच्छा अच्छा अलग ही है उसका ही है कि हमें उसको साथ देना है हे श्रेष्ठ कमल सर्व सभी श्रेष्ठ कमलों में से परम श्रेष्ठ कमल तू मेरे पास आ जा तो वो कमल उठ के उसके पास आ जाता है ये तो ऐसी समझ में नहीं आएगी लेकिन हमारे आज्ञा धर्म में यही है मकसद आज्ञा धर्म का मकसद यही है प्राप्त प्राप्त हुआ है लेकिन प्राप्ति हमारे अनुभव प्रमाण से कर लेनी है हमें इसीलिए ऐसी है उपमा तो हाँ। उसमें ये पुद्गल और आत्मा का शुद्ध स्वरूप दोनों के उसका एक उपमा से ऐसा जुड़ा गया है भगवान उसके समय तो थोड़ी बात करते तो समझ जाते थे आज का समय ऐसा है कि इतना जल्दी समझ में आने में कहीं टाइम लगता है तो हाँ, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है जरूर आता है आपको तो बड़ा अच्छा है अरे क्या शुभ का आपका नाम क्या शुभ नाम कन्हैयालाल अच्छा निर्देशक लघुतम पाउस अलवर के महात्मा बाईस मार्च हो गई का लेते हैं हाँ चलो એ તમને વિનંતી છે તો એ ये मधुर नाका कौन है आप दादाजी के अच्छा दादाजी आग्रह हटाग्रह और मान मधु में बहुत है मधु कौन है आप पहचानती है उनको आप पहचानती है अच्छा ठीक है तो आपको मालूम पड़ता है कि मधु में सब बहुत है ना ठीक है दादाजी इसके लिए क्या करें तो मुझे पूछो उसके लिए आपके अंदर के शुद्धात्मा भगवान है ना वो प्रज्ञा उनको पूछो कि हे प्रगट शुद्धात्मा भगवान मधु के अंदर के अभी मधु क्या करे तो उससे बोध मिल जाएगा आपको प्रज्ञा पूरा बोध देती है लेकिन चेतावनी दे देती है और कुछ नहीं करती समझ में आया ना वो है लेकिन ये तेरा नहीं है अभी वो तो खाली हो रहा हुआ माल है और कुछ नहीं है जो खाली हो रहा है उसमें हमें दिक्कत क्या होनी है तो प्रश्न तो आता आएगा और होता है हरकत नहीं है तो मधु धीर कर ये तेरी खाली दुकान हो रही है तेरी हाँ तो प्रज्ञा देवी से तरफ से हमें ये चेतन हमारे अंदर से भी हमारा बोध हमको खुद मिलेगा समझे इसीलिए हम ये खुद से हम खुद बोध पाए हुए इसे आहिस्ते आहिस्ते समझ में आते जाएंगे समझ में आया हम्म। ये शक्य नहीं है खुद से खुद बोध पावे हुँ? हम्म? बिना वो बोध बीज और वो बीज से सारा पौधा हो के विकास होता जाता है तब वहाँ तक नहीं होता ये सब समझ में आया हम्म? ये है कृपा करो दादाजी ये कषाय खत्म हो जाए उसको डिस्चार्ज कषाय बोलते हैं तो तो ख़त्म हो ही रहे हैं लेकिन हमें ये देखना है कि मधु में कषाय सब है उसका दुकान का माल वो खाली हो रहा है तो कोई हरकत नहीं होने दो हमें ज़रा अच्छा तो नहीं लगता उनसे फिर भी दिल में हमारा शुद्धात्मा पद से रह के उसको पास होने दो अवस्था हो जो आवे हो उसको वो आसान ऐसी आसान से नहीं चली जाएगी आपको दुख देके जाएगी लेकिन उसको सहन करो कि मुझसे दुख पाया हुआ ये पुद्गल अभी इस ढंग से निकलता रहता है हा? तो आनंद से उसको देखते रहो क्या सचित आनंद शुद्ध आत्मा प्रज्ञा के प्रकाश से हमें उसको देखते रहे बस तप है उसको वो दिल अंदर का तप बोलते हैं दिल के अंदर समझ में आए तो अच्छा रहेगा लेकिन वो एकदम तो नहीं आएगा आहिस्ते आहिस्ते उसका प्रैक्टिस करो खूब प्रैक्टिस करो हाँ? और तप में त्रुटि आ जाए तो फिर से खड़े हो जाओ इसे तरह चलो कहीं दफे तो गिर जाएंगे खड़े होंगे वो नहीं होना समझे कि नहीं शरीर को कुछ नहीं होता उसमें हुँ? तब किसको बोलते हैं कि शरीर को किसी किस बिल्कुल कष्ट नहीं होता हमें खाली आभास होता है कि शरीर को कष्ट आता है इतना बस और कुछ नहीं होता और हमें कुछ नहीं हो रहा लेकिन अगर हम सही उसको देखते रहे तो शुद्धात्मा भाव से समझे न देखना वो दर्शन शक्ति का काम है शुद्धात्मा की असर हुँ? हम्म? तो उससे देखते रहने का हमें यही उपाय एक है और देखने में कच्चापन हो जावे तो माफ माफ़ी मांग लेना प्रतिक्रमण करना गलती की माफ़ी मांगना क्षमा मांगना और हमें शक्ति दो हे प्रगट शुद्धात्मा भगवान मुझे मधु को शक्ति दो कि जिसके कारण ऐसी परिस्थिति उस नहीं आवे समझे और उस आहिस्ते आहिस्ते स्थिर होती जावे हुँ? हुँ। और मेरा देखने का स्वभाव और खुला होता जावे उसका आवरण हटते हटते समझ में आया पीछे ये क्या है रुक रुक रुक जैन दे दे हाँ। वो कविता है आपके तो एक प्रश्न है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है आलोक ठीक है हाँ रज रकमी जैन क्या क्या नाम है रजनी जैन अच्छा आप कहाँ से हैं चेन्नई ठीक है ठीक है अब કોઈ આપકે પાસ છે एमने कई एक पद बोलू कई गीति मैं एक गीति का माना चाहता है प्रार्थना भजन भजन करते लेते लेते जरूर जरूर हाँ एक थोड़ा समय इतना ले लें એ अलवर के महात्मा हमारा आप ही गया थे नहीं अच्छा उसमें उनकी विनम्र विनती है ये तो ज्ञानी पुरुष के चरणों में अलवर के सभी महात्माओं का धन्यवाद प्रणाम हम्म। अलवर में जो आपकी कृपा से अक्रम विज्ञान का स्वसंस्कार सनातन केंद्र का उद्घाटन 14 अप्रैल 15 को आपके कर कमल से हुआ उसकी यादगिरी सदा अमर रहे हर साल बरसी उत्सव बने तो बरसी उत्सव तो करना बड़ी अच्छी बात है ये तो सब आपने होता तारा जी ने लिखाया है सब वो कमाल उनकी है हाँ। बरसी करनी हमेशा हमें सभी को आपका पुत्रों को वड़ीलों को भी बुलाना उनका हरकत नहीं है लेकिन सब सबके हिसाब से आ सकते हैं समझ हाँ कोई बात नहीं तो करना ही हाँ मर्जी बहुत उसको मनाना दो दिन हाँ सबको बुलाना हुँ? हम्म? सभी प्रबंध करना सुबह से शाम का रात्रि का सारा दिन अखंड कीर्तन भक्ति होता रहे और स्वाध्याय उड़ता रहे ऐसी भावना को साकार के लिए आप हमें ऐसा उल्लास बने उनकी कृपा करो हम सदा आपके साथ है क्या नाम है उन सभी महात्माओं के तरफ से अलवर के सभी महात्माओं आप आहिस्ते आहिस्ते समझ में आते रहेगा बहुत आया है समझ में कि हम हमेशा आपके साथ ही रहते हैं वहाँ साथ में रहना महीना हमारी शुद्धात्म स्वभाव से ये शरीर में शरीर तो उसका मर्यादा वाला है वो मर्यादा के बाहर उसका काम नहीं हो सकता शरीर से लेकिन ये शुद्धात्मा शक्ति से बहुत कुछ काम हो सकता है हम इस शरीर में बैठे बैठे एक ही जगह रह के सभी जगह बाहर घूम सकते हैं वो सूक्ष्म तत्व का काम है सूक्ष्म तत्व का और इसीलिए आपको ये आहिस्ते आहिस्ते अनुभव में आएगा ही ये महाराज साहब है ये मुनि है यहाँ बैठे हैं आए हैं तो चंडीगढ़ से नहीं लेकिन आपके बिहार में थे ना तो, तो रहते हैं खूब खूब कला बोले खूब कला खूब कला में रहते हैं जहाँ हमारे आपता पुत्र साहेबों ने वहाँ सिमंदर स्वामी वगैरह प्रस्थापित होए वहाँ वहाँ रहते हैं वो कहाँ है अभी कहाँ अच्छा तो आए कहाँ तो से लुधियाना से आए पंजाब से हाँ तो फिर भी आज आपका अनुभव है इन्हें अंदर से कि मैं लुधियाना तो था और आज भी हूँ यहाँ होते हुए भी ऐसा तो है कि नहीं आपका कि नहीं है बोलो ने हाँ? आपके समक्ष अभी आचार्य साहब है कि नहीं हुँ? है ना अभी पर हमें तो किसी को दिखाई देते भाई <laughs> समझे सूक्ष्मता से हम कहीं भी घूम सकते हैं वो हमारे अंदर का स्वाद अनुभव है शरीर में होते हुए भी हम बाहर सभी जगह घूमते रहते हैं जितना जितना शरीर से हमें छुटापन अलगावपन हमेरा बनता रहता है वैसा ये शरीर हमें बंधक नहीं बनता हमेरे लिए क्यों कि हमारे अंदर विहार करने की शक्ति नहीं है क्या बताया वो विहार करने की शक्ति शरीर की है हमेरी नहीं है हम तो सदा विहारी है सदा विहारी क्यों कि हमारा स्वभाव विहार करने वाला नहीं है लेकिन निर्विहारी स्वभाव है हमेरा इसीलिए हम सब जगह घूम सकते हैं लेकिन ये शरीर की भाषा से हम ये समझ लेते हैं इसीलिए ऐसा लगता है थोड़ी द्विधा हो जाती है और कुछ नहीं अनुभव का प्रमाण जैसा जैसा आते आस्ते आता जाता है हुँ? हम्म? हमारे अंदर शानपण अच्छी ढंग से बढ़ता जाता है तो ऐसा हो ही जाता है क्यों कि बाहर कहाँ भी हो एक प्रत्येक कोई भी महात्मा हो एक भी और उसका शरीर है शरीर का व्यवहार है वो व्यवहार बाहर जितना भी है वो सभी साथ वो व्यवहार ये घर में रह के एक जगह रह के कर सकता है ये शुद्धात्मा का प्रभाव है हम्म? अनंत शक्तियाँ हैं शुद्धात्मा की अनंत शक्तियाँ हैं समझ में आया तो अलवर में हम नहीं ऐसा क्यों लगा आपको ताराचंद आपके घर में ही है देखते ही नहीं हमें तो नहीं देखते हो हाँ, आपको दिखाई देता है भाई बोलो बताओ मुझे दिखाई देता है <laughs> समझे रहे लेकिन वो ये उसका ये नहीं है कि ये हम रमत करते हैं नहीं नहीं नहीं गंभीर बात है ये बहुत गंभीर बात है हाँ। आप तो सिंह द्वार वाले हो क्या बात करते हो एक गजना निकालो तो सब पंजाब की बॉर्डर में चले जाएगी हाँ वो काम तो आपने हाथ में लिया है तो आपको पहुंचाना है सबको देखो ना मुनि महाराज आए लुधियाना से आ गए हैं हाँ? ना बरोबर बरोबर वो रायचंद जी आए देखो ना खुल्लर जी साहब आए हैं सभी दोनों तो आपका सब बरोबर है अच्छा दूसरा आप है अलवर से पचास महात्मा ज्ञान विधि मोमुक्ष लिखे वो तो ठीक है वो तो 25 तारीख को बताया हमने हो जाएगा उन्हें ज्ञान विधि मिले अलग है उसमें लिखा है अलवर से 50 महात्मा ज्ञान विधि मोक्ष मिले अच्छा ठीक है वो सब दीपकानंद जी से थोड़ा बात समझ लेना मिले आपकी कृपा से 125 महात्मा इस शिविर में आए हैं 125 महात्मा बड़ा अच्छी बात है એમને બહુ જીવનથી કેટલી નોંધ ली છે आप બધી જુઓ सभी भी हार्दिक सभी की हार्दिक इच्छा है कि ज्ञान विधि सबको मिले आपने जूनागढ़ सत्संग में कृपा की थी हमें बतलाया था होली शिविर में ज्ञान विधि होगी जो भी मुमुक्षु हो वे सब आ जावे आप लाभ आता जाएगा अब आए हैं उन्हें हम कैसे करें कोई बात नहीं आपके भाव देखो आपका शुभ नाम क्या पूछी जो ने क्या नाम है बस सही रहो ना जब क्या नाम है हाँ हाँ देखो कन्हैयालाल ये आपका रखा है बरोबर है आपका जो लिखा है भाव है वो अवश्य पूरा होता है हमेशा हाँ तो क्या कह आप अनुदान दे दीजिए जयपुर तो जवान बनतु नहीं ना अच्छा कोई बात नहीं हाँ हम्म। लो લઈ लो બસ હવે બધું થઈ ગયું આ તો એ મધુર હો ગયા મધુબેન समझते लिया ना और रजनी जैन आपका भजन है और ये क्या है कविता पढ़ने का अपने आलोक जी का है असीम स्नेह और प्यार के सागर आप श्री जी हम सभी अलवर के महात्मा परम विनय के साथ अप्रैल 2000 सोलह में पधारने का परम विनम्र निमंत्र स्वीकार करें वो हमने स्वीकार किया है आलोक जी अगर आप निराश करते हैं तो हम समझेंगे आप पुजारियों की सेवा से प्रसन्न रहते हैं भक्तों के दिल की सेवा से नहीं हमें कोई भेद नहीं पुजारी हो भक्त हो कोई भी हो क्यों कि हम सभी जगह है सभी में है और फिर भी हम हमेरा स्थान नहीं छोड़ स्थान से छूट नहीं पाते समझ में आता है कुछ हम सभी जगह है बिना हमेरी खुद की जगह छोड़ के छोड़ के बोलते हैं छोड़े बगैर ये सीधी बात है और आप भी ऐसे ही है समझे न ये पूरा सारा भाव का और द्रव्य का विज्ञान है द्रव्य महीना व्यवहार भाव महीना निश्चय आलोक सुनते हो अरे हा के ना तो बोलो सुनते हो द्रव्य महीना आलोक और भाव महीना निश्चय बस संबंध हो गई बात आपका लड़का आसाम में भले हो फिर भी आपसे दूसरे इतना दूर नहीं रह सकता है वो अभी छोड़ो लंबा नहीं बोलना अभी टूक में थोड़े में समझ जाओ अभी क्या बोलो तक थोड़े में बोलो थोड़े तो तो तो मैं पीछे टाइम मिलेंगे पीछे टाइम देंगे हम अभी तो इतने लोग ठीक है नहीं मैं सुनो जरूर जरूर जरूर कविता पढ़ आपका अभी आप पढ़िए आपकी कविता हाँ तो। बच्ची ने भी स्वागत का भोजन किया तैयार किया कौन है कौन कौन है ये बच्ची जिसने भजन क्या भक्ति का तैयार किया है कौन है हाँ? हम्म? हाँ तू उनको पहला बोलने दे हाँ। आ जाओ जरूर जरूर हाँ जरूर बेबी बस क्या तेरा नाम है बच्ची मानसी अच्छा, अच्छा चलो जय देखो छोटी बच्ची का आवाज तो देखो जोर से चल जोर से बोल अरे वाह जय पुष्पा बहन उसके अक्रम विज्ञान में ले लेना आप उनके पास से ले लेना लिख के देंगे ओ अपने तेरे गुरु जी पुष्पा बहन बैठे हैं ना ये उनको दे देना अक्रम विज्ञान हिंदी वाला आता है ना अरे अलवर वाले सभी सभी कुटुंब के सभी घर में अक्रम विज्ञान जाता है कि नहीं आलोक ना बोलता है आलोक आता है कि नहीं नहीं आता है ક્યાં બોલતે ભાઈ આ મળતું નથી એવું કહે છે હે અચ્છા તું બેસ બેસ બેસ બેસ જા બેસ જાઓ સબ નીચે બેસ જાઓ નીચે બેસો બેઠો ત્યાં બેઠો સબ બેઠો બેસ જા તું હા એની જગ્યા બેસ જા થોડા બસ તો દેખો પુષ્પાબેન हे अक्रम विज्ञान जो हिंदी है वासी ये जिम्मेदारी आपकी है आप बोले कि मैं सबको भिजवा दूँ ऐसा तो का काम क्या कहाँ कर सकता हूँ लेकिन तलाश करके पहुँचता कि नहीं इतना तो ख्याल करना हमें ज़रूर है हमें भारत सरकार से बहुत अपेक्षा करते हैं लेकिन लोगों को जीने के लिए खुद के लिए कैसा जीना वो बात रखते हैं हम ये बहुत ज़रूर है नहीं तो इतना बड़ा मनुष्य समाज इस ढंग से एक दूसरे से जुड़े हुए भारत के कैसा जी पाए आज आज का सब देखते हैं तो, तो ये तो सत्संग वाला है दिव्यत है बहुत दिव्य है हम्म? अक्र अक्रम विज्ञान जो गुजराती में आज कितने साल छत्तीस साल के छत्तीस साल ऊपर हो गए हो गए बोलो अभी हिंदी तो कितना अभी शाह साहब के समय में चालू हुआ मेरे ख्याल से बारह साल हो गई है हाँ? 2012 में तीन साल हुए तो अभी सबको मिले ऐसा करना आपने लवाजम दिया है उसमें सभी बाकी में पैसा नहीं लगता फक्त अक्रम विज्ञान में पैसा लगता है क्योंकि हर महीने उसको छपवाना ये ते फिर भी बहुत कम लेते हैं उसका खर्च आता है उससे आधा लेते हैं बाकी तो सब महात्मा सब संभाल के निकाल देते हैं सब लोग ऐसा हो जाता है उसका पृष्ठ आता है उसमें ही कितना खर्च चला जाता है प्रिंटिंग के सब सभी खर्च उसमें ही लगता है वो आगे पहला तो हाँ ले ले भैया ये आपका लवाजम भिजवा देना इतना तो काम करना और पूरा पत्ता ठीक ढंग से मोबाइल फ़ोन अगर वो हो ईमेल हो सब साथ में भिजवा दो वो आ तारा भाई ताराचंद जी आपके वहाँ सब पढ़े लिखे सभी लोग हैं बड़े अच्छे हैं वहाँ तो सब इतना ऑर्गेनाइज हो जाओ हो जाएंगे अलोक आपका सहकार मिलेगा अलोक अलोक आपका सहकार को मिलेगा ना बस समझे ना सभी का लवाजम चले जाए और सही एड्रेस बहुत ज़रूर है एड्रेस सही नहीं हुआ था तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है उसमें यहाँ तहाँ चला जाता है नहीं आप अलग बात की आपने आपको निकालना है इसीलिए बात की क्या क्या बोलते उसका महीना क्या है हम भी अक्रम विज्ञान प्रकाशित कर सकते हैं इसीलिए आपको अंदर भावना है कि हम भी कर सकते हैं वो छोड़ो ने उसमें से निकलो ने एक करवाए से छुटकारा दे दिया है फिर भी आप अहमदाबाद के मिलिए उत्तम जी को साहब को सबको मिलना हाँ हम आते हैं चलो भाई आपका हेलो अभी थोड़ा बोलना कम कर दो तो आपको बहुत मज़ा आएगी आपको अंदर आपकी कवि तो शक्ति खिलेगी आप समझे न जितना बोलते हैं इतनी शक्ति का व्यय होता है समझे न तभी ये इतना तो रखना ही जरूर है अपने हित के लिए हाँ दूसरे का कोई नहीं भला होता अपना ही भला होता है उसमें और खुद का भला होता नहीं वहाँ तक हम दूसरे के भले से भले के लिए नहीं जी सकते हैं घर के अंदर खुद घर के अंदर बहुत समझने की बात है ऐसी आसान लगती है गहरी बात है लेकिन एक समय ऐसा है कि आसानी से ऐसी निकली है दादा भगवान से सभी के लिए और हमारे अनुभव में अब ऐसी है सही ढंग से तो अरे आप लोग क्यों आए आप बोलेंगे तो, तो आपका बोलने दे उनको अच्छा चलो चलाओ जोर से बोलना है हाँ?

बोलू ऐसे कृष्ण तो? पीछे पीछे ले गए देखो पच्चीस तारीख का तब लेंगे 婚礼。 क्यों तो क्या क्लास में है कौन सी क्लास सिक्स तेरा थर्ड में आऊँगा तो इतना अच्छा बोलता है अरे तू थर्ड में आएगा तू सिक्स में ठीक है बड़ा अच्छा तो सबका नाम लिख लो उम्र लिख लो सब कुछ लिख लेना पुष्पा बहन अब अब जोधपुर की है तो कोई ख्याल नहीं रहती बच्चे को कब रखेगी अभी तेरे बच्चे तो सब उनका बच्चे खिलाने वाला हो गया हाँ हाँ तो वो पोता के पोते पोते अच्छी लगती है ना पर उसको ख्याल करना जोधपुर जाते जाओ उत्तम शाह ना बोलते होंगे <laughs> निमिष निमिषानंद जी उनको जरा लो अंदर हाँ जाओ और उत्तम शाह को भी बुलाओ अकेला ललित कैसा कितना काम करे हाँ ये तो उनका साथ सरकार है आपता पुत्रों का तो चलती है अभी भी देखो अविरत हाँ, दो साल में दो साल में दो 2001 से स्टार्ट से हुआ है आज सोलह भाई सोलहवा साल हो गया बोलो दो स, दो स, दो समय ने हाँ, साल में दो और एक शिविर भी होती है कभी कभी युवाओं की कैसी नहीं साल में दो बोलो हम्म? तो अभी छः बजने आए हैं हाँ? अब आप बोलो बोलो वहाँ बैठ के बोलो चलेगा खड़े खड़े बोलना वो जो चलता नहीं है भाई हाँ बोलो नजदीक रखो ओम दादा એનું પતી જાય પછી અસીમ જે કરો સચ્ચિદાનંદ બોલાવીને કરીએ એને બોલાવીએ અસીમ પણ બહુ સુંદર બોલાવો મને પણ પછી હું જતો કઠિન પરિસ્થિતિ મેં વિજય નહીં ગભરાતા ગભરાતા દાદા નામ बदल जाते चोर लुटेरों के भी हित बदल जाते बदल जाते छोड़ गुरुता मैती करना अपनाते अपनाते सीए सर्द भी नहीं उपर कर कर पाते कर पाते यक्ष भूत राक्षस तन में हो गुण गाते गुण गाते શુભ નામ रजनी बहन आपने अभी ये भक्ति का स्तवन सुनाया वो एक बच्चा माँ के सामने किस ढंग से सुनाता है ऐसा उन्होंने किया इतनी भाव उर्मी थी अंदर बड़ी अच्छी भक्ति है आलोक जी अभी अब जो भक्ति होती है हमसे इस ढंग से होती है हमें किसी को सुनानी नहीं है अंदर से आती ही जाती है आप समझे ना हमारे अंदर के भगवान के साथ करते ही रहते हैं आलोक उसका अंदर का भगवान के साथ शुद्ध आत्मा के साथ समझे ना वो प्रज्ञा की जो स्थिति है वही शुद्ध आत्मा की स्थिति है समझे कि नहीं ऐसी बात है हाँ हम खुद खुद के साथ भी करते रहे तो आपो आप बाहर निकलता जाएगा वो समझे ना हम्म। चलो अभी छः बजे हैं नमो वितरागाय चलो नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आय रियाणम નમો વજ્રાયાણમ નમો લોહી સવ સાવણમ એસો પંચ નમુકારો સવ પાવ પણાસળો મંગલાણમ ચ સવેસીમ પરમમ હવય મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद एक छोटी सी हम हमारे लिए आज्ञा धर्म में अभी हमारा जीवन सही ढंग से जाए इस ढंग से ले जो हमें जिनका खूब फायदा मिला है और वैसा अपने साथ अनुभव में वो जुटा गया है ऐसी प्रार्थना बुला लेते हैं सबके लिए हर एक जन अपने अपने ढंग से उसको अपनी ढंग से बना दे समझे बोलावे हाँ तो आँखों बंद कर दो और पूरा मैं शुद्धात्मा हूँ उपयोग के साथ बोलना आंखों बंद करो सभी हे आंखों बंद करके बोलना रत्नी जी सब आंखों बंद कर दो हाँ ध्यान से हे अंतर्यामी दादा भगवान वितराग परमात्मा हे अंतर्यामी दादा भगवान

અંતર્યામી શ્રી શિવ પરમ કલ્યાણ સ્વરૂપ પરમાત્મા आप हर एक जीव मात्र के अंदर जो तत्व गुण अवस्था से विराजिल है जो द्रव्य गुण अवस्था से विराजिल है वही द्रव्य गुण अवस्था से आप मेरे अंदर द्रव्य गुण अवस्था से प्रकट शुद्धात्मा स्वरूप से विराजिल है आपका अवितराग परमात्मा स्वरूप वही मेरा स्वरूप है मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप तत्व गुण अवस्था से स्वद्रव्य स्वद्रव्य के गुणों और स्वद्रव्य के गुणों की अवस्थाओं से विराजिल है ऐसा

गलती से गलती से हमें, जाने अनजाने में, में आज्ञा धर्म के जीवन में, जो जो भूले हुई है वो सभी भूलों को हम आपके समक्ष रखते हैं उनके लिए हृदय से खूब पछतावा करते हैं और

मुझे आज्ञाधारी को क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे और फिर से मैं ऐसी आज्ञा धर्म के जीवन में भूलो न करूं ऐसी आप हमें शक्ति प्रदान करो हे प्रगट शुद्ध आत्मा भगवान आप ये आज्ञाधारी पर ऐसी कृपा करो आप ये आज्ञाधारी पर ऐसी कृपा करो जिससे उनके व्यवहार दृष्टि की आज्ञा से निश्चय दृष्टि के साथ व्यवहार दृष्टि में जो जो भेदभाव है वो सभी नष्ट हो जावे और ये आपके साथ अभेद दृष्टि से तन्मया कर रहे जय सच्चिदानंद यही तो यही तो मेरा सत्स्वरूप है ये असत शरीर में जिसको सत माना था हुँ? हम्म? तो हमेशा अंदर से हमारा सत्संग बना ही रहता है कायम का चलो दादा भगवान ना लकड़ी आप ही दे दीजिए